એલે ભાલો એર હું તને ગારે માં નાખે દસ્તો આવે છે દઈ વેચ્યું આવે ઉજળો બાબા जुगा बाबा एक दो आपरी नीवी दूजी ले रकम ठिकाने कर खुर्जी भर परी और घोड़े रे पथा के दे परी और हमें देखो छा हमें कागवा हाथ भी छी ऊंचा वे और हमें गा डाला और गाड़ियां खाली वे जुगा बाबा गरीब नवाजा और इन्हें भी टेबरे माले एक दो रे ऐती तीजी ताली लागी तो मोड़ी और हाथी पीछी गाड़ी यारा कागवा ऊंचा होया है दुनाली दो लाख लाख एक तोड़े वाली कड़ा भीड़ी एक करोड़ क्रोड़े के टोटे वाली जुजुर्वा नाड़ छूटे जबर धर राब धुजाबियो केवाट मिलन को आयो जाने इंद्र घटा सजाबियो दुनाड़ी दो लाख लाख हिक थोड़े वाली कड़ा भीड़ी हिक क्रोड़ क्रोड़ हिक टोटे वाली जुजुर्वा नाड़ छूटे जबर धर राब धुजाबियो केवाट मिलन को आयो जाने इंद्र घटा सजाबियो रूखा उडे रीठ भीठ उडे भाला ताणी तू ले मा मैंने पीठ यण बुध आजे उकड़ा रूखा उडे रीठ भीठ उडे भाला तणी और ले मा मैंने पीठ तू यणा बुद आजे उकड़ा जुगा बाबा अठीने जो जकाजी मंडियो है बिन टेमरे माले कनी अमिया गोखड़े माथे चढ़ परी और बोले है फरमावे है કે જોવો દેખો ભાઈએ હું કહેતી નહીં ઉકો वो आज आयोड़ो दिए है मैंने थोड़ क्यों अजय पड़ा को हमें ही पढ़ियो है और हमें आयो है जोवो जोवण हरिया थे गोखे काढो गात हूँ अमिया कहती उकड़ो बो आयो सुनी जे आज जोवो जोवण हरिया भले गोखे काढो गात अमिया कहती उकड़ो बो आयो सुनी जे आज जोवो तो खरी जे और कई बात है और केड़ो कितो कितो काम कियो है और अम्मे जो अमे तरवारांगी जाका जी बह रही है और भालांगी जी के बीट उड़ रही है और हाँ मामे जी ने स्नान संभाड़ा कराए परा और हाथी रे हमारी बनाए परो और हाँ लेना और आटे भोज रे माँ छो आवता मामा साहब और हाँ खिलारो तो हाँ नाड़ा ही मुझे रहने दू को नहीं जुगा बाबा करना भगवत का बटे बिन ठोड़ो गयो है और आपने उधर वो चंडाली चढ़ी है रीढ़ चढ़ी तो है भावरी चढ़ी जुगा तो भजन मत पूछो बात बाबा बरंगा ही कर देना उधर तो बड़े बड़े हुआ बरंग और इन टेम माले कानी अरे सांकला में तो बैठो बिना हथियार बैठा हैंग सभा रहन की ओड़ी कने हथियार तो हो कोई हैंगा ने मार कूट हटाए परा सो मारा ते सखला पंदर सो पर धान एक मत मारे राजा न तने अबे सिंगरी आना सो मारा ते सखला पंदर सो पर धान एक मत मारे राजा न तने अबे सिंगरी आन हैंगा रो मार कटाए और एक अंतर आप सांक लो और सुजान मल मोतो रहा है बीटे में अमी आज थाल भर भरो मोतिया हूँ रेड़े फेड़े बिछिया लगाए परा और बट आए परी और कुंकुरो तिलक कियो है तिलक कियो है भाई थे तिलक क्यों कियो है और कई बात है ए भाई यूं कहो है हाग मारे अखी राखणो है जिके वास्ते हूँ आपने तिलक करूँ ശാഖല്യാ ഷോമാരാത്തെ ശഖലാപന്നരേഷോപകൃതാനം ഏകമതമാരേ രാജാന തനെ തനെ അബേ ശിംഗരിയാണ് हाँकला हैंगा नहीं मार दी एक अबे सिंह जाए तो अंदरा सांकले ने मारी मारे थारो बहन ही है थारी बहन हूँ एतरो मारो ही कहनो करी भाई छोड़ू वाले तो कोई नहीं नाड़ा पर जा हमें कहीं बात कोई नहीं हमें तो आ बात तू यूं कहे पर मैंने री छेड़ी चढ़ी उड़ी केड़ी की उड़ी है केडग डमरू बाजे यमर गाजे बामन भैरू बेता लाजा हुका भूता रामक दूता लंक जा तत्का लाजा बागो चारा असको मारा कार झारा मई लारा रावण के लाला तेज बसीला हरिहर ले गयो पताला हरिहर ले गयो पताला कसर लाल लंगोटा कर मैं सोटा जाप हूछा अजनी लाला देवा मई बढ़कर खिले खिले कड़ क्रोध उतारा बजर आला दुष्टन को मारन कार जारन लंक पधारन प्रतिपाला लंका गट तोरन अरिमुख मोरन पत्थर भोरन बिकरा ला संकेतर पाला वीर बेताला भीषण मरुवाला तिरसूल भलक के कूदन लंके खेचर भूजर घुबरा लामा वीर कुंभाला दीन दियाला संतन के प्रतपाला बाजे मर्दंगु ताल उबंगु घट धोनी गू घर माला अब खेचरी भूचरी नाचन लागी मस्त भय खेत्रपाला जय जय बजरंगी सब गुण संगी बेटन तंगी मतवाला तुम हो बोरंगी भैरम जंगी गल फूलन की जय माला मेगा दी के सती चली बबगती लगती लचमन तत्काला सर जीवन लाना पाड़ी उठाना प्राण प्राण तजे हो दस्त लाला जय राव पुराला जय कुपराला काल उकाला बिगर आला गल में फुल माला नितर बिशाला जय जय अजनी हो लाला सिंदूर स्वरूपा दित के धूपा जोगन चूपा जगर आला मुख मुख में गामी सदा सुहामी संतन गामी सुखपाला बंदर सिंह वारा कर किलकारा लंक दवारा मस्ताला जोगनी सिंह लीनी भार नवीनी आरती कीनी रदुलाला हनुमान हटीला रंग रंगीला तेज वसीला अनुमान हटीला रंग रंगीला तेज बसीला प्रतपाला सुग्रीव सियासा दास कपीसा जटा जूट बंदर वाला पकड़ डबरू बाजे अंबर गाजे बामन भैरू बेताला जुगा बाबा ओ मैं रीठ रचो है बिन टेमरे माहले कानी अन्ना ताजरो राज कायम प्रताप मामेने हाथी रे अंबाड़ी रे माथे हाथी रे गड़ बीर घट राजविया घर रीत पद मणिया पड़ दे बसे फाबे गढ़पति आने गीत हाथी रे गड़ बीर घट राजविया घर रीत के पद मणिया पड़ दे बसे ओ फाबे गढ़पति आने गीत जुगा बाबा हाथी रे अंबाड़ी माथे मामा साहब ने चाड़िया है और एक अंतराव सांकलो और सुजानवल बाणियों शाखलिया सोमार में हड़ हेठे हाकिया तू मामी भाथो लाव थारे अवल जो हाड़ी उकड़ो शाखलिया सोमार में हड़ हेठे हाकिया तू मामी भाथो लाव थारे अवल जो हाड़ी उकड़ो बाबा जुगा बाबा शांखला मार घाण काट और घाणिया में गात गात पील पील और ऊँचा सुजान बल मूते गए ಆರ್ ಅಂತರಾವಸಾಕಲೆಗೆ ದೋಯಂಗೆ ಗಾತ್ರ ಬಾಡ ಆಡ ಆಡ ಆಡ ನಾತ್ ಪೋಯ್ಪರಿ ಫುರ್ನಿಯಾ ರೇ ಮಾ ಗಾತ್ಪರಿ ನಾತ್ ಹಳ ಜೋಡ್ ಪರೋ ದೋಯನೆ ಹಳ ಮಾತೆ ಲೂಂಡ್ರಾ ಬಾಯ್ ಪರ ಅರೆ ಲೇರ್ ಪಾಸ ರವಾನೆ ಹೋ ಜೋ કયો હે જુગા બાબા રવાને હોયો આર इंदिरा जाहे जी के હું તને કહી દઉં આર ખડો રહ્યો હે भगवान की पुरिया जी की देख रही है ओ हो हो धन्यवाद है ऐसो सूरवीर छत्री लड़ियो है कोई बात वाली बात है कठटो माना रूठा जना बठट झूठा कमंद लड़ना बचाना धड़ता बला दो नहीं निडर नर हरा दे मऊ भोड़े तुम नबे पाव सुरतान माधो चाप चक चोड़ हर पुर चढ़े मैंगला डहा गज गहा मोड़े के मान महाराज ने रिख्या महाराज री यूं तेग धल मुगल तुरकान थोड़े मूछ बड़ घात सुरतान के मोट मन जाट जड़ खेल शाम बाय झटके के झीक तरवारिया घावंग झेल शाम यूं पेल शाम घणो अशराल पटके अमल रंग कशुंबो पीत दारू अचक और बल पोहो जरंद भागो के रोपिया पाव भिन्न रावज मरावता यूं लड़े वा काज भजाब लागो कटट सट बटट सट हटट सट लूंबिया और हटट सट लूंबिया हवेली डोले तना धिर धिर राबा तोप नाड़ा धुबे यूं धिर धिर गाजिया हुरड़ गोड़ा हुरड़ गोड़ा हलिया परनाए तो जड़ हवेली ओ पात आशमेद जम दीद पेंडा के सबल तर वारी आ सुंती म्याना सगग यूं बरसिया सार झरुर बेंडा मोर मती बांधना लाज सारा मोहर लीज दशवाशरा बृद लापे मरोड़ी मुगल ने कायम किया मोरचा यूं चलाई तोप पर खड़क चापे शूर शत त्रिभूषत रीज रजवर्त ओ थोग दरिया अग जीत थे आके निबाबा चूर भक भूर कर नाखिया जानोरव घड़ी तमाशो देख रही आजारी अवसरा भरन भर माल ले उतरी ओई शरण माल से काज आवे मादियो कमंद सरगेश सर्गेश बेहू मिलिया यूं मालिया जो तो सरग माही जी मठट माना रूठा जना बठट झूठाई कमन जुगा बाबा कृणा भगवत गाया है ज्योतिष रूपी महाप्रभु राया है अरे मैं हूँ तारे हाथी ने तो लारे ले लियो है और धके जगह ढोलंग इद्रिया लाग रही है नगर माथे डाको पड़ रही हो आगरदा धी आगरदा धी आगरदा धी आगरदा धी बहते बहते बहते बहते बहते बहते जूने गड़गड़ कने गया है अरे बड़े डेरो जगह जमायो है और गांवरी लुगाया ने की भी है भेड़ी और जगह ब्याह का समेड़ा करे जेड़ा समेड़ा किया है समेड़ा कर परा गरीब नवाजा आरू के बाले चेने सरवरिये केवाट ने और फौज हाथी ने बदार घरे लिबी है आहो शा गलिया सोमार में हड़ हेठे हकिया तू मामी भाथो लाव थारे अवलज हाड़ी उकड़ो शा गलिया सोमार में हड़ हेठे हकिया तू मामी भाथो लाव थारे अवलज हाड़ी उकड़ो बाबा બધા જુગા બાબા જીએ દેવ સભા જીએ હું કર્યો દેનાર ફૂલ મરે બાસના જીએ बदा इन लिया रंग बिलासरी बाता की भी बाता बिगता करपरी अंतराव शांख लेने और सुजान बल बाणिये ने दोया नहीं लेपरा गिरी बनवाजा पकड़ पाचा पहुंचता कर देना कि आपा हटे आने बंद में ना गया तो बंद में तो घड़ा ही ना क्या है अरे बड़ा किए ला रहे कहीं राखियों को नहीं, नहीं नाश्त तो हैंग कर दी नहीं हैंग बारता मेट दी नहीं अब है जो को आने पाचा गिरे पहुंचता कर देव करोड़ू पाटन ने पाचा पुगता कर दी ना है किने अंतराव शांक लेने સુજાણમલ મોતેજીને અને આપણે ઘેરી રવાના કરી દીના હે સરુરીએ કેવાડ જૂને ગડગડ માથે રાજપાટ કયો હે તાળા ગડગે માથે ઉકે બાળે છે રાજપાટ કયો હે ઉકાયણ જુગો માયા સામત કોઈ સુજે નહીં ઓ મહાસંગટ દુઃખ માયા સાધુડો સાંકળ જડ્યો તાળા ગડરો તેજ બારા ઘણી બજાડ્યો તું ભાયા શું ભાણે જ ધકી બાતાઈ ઉકડા जुगा बाबा सभा सारी सुन ली भी है डालू डाडी गाय प्रमाण बात पूरी कर देनी है दाता रारी बातड़ी दाता रामन भामंत के बैरी मंगत पावणो है तो अण सीत्याई आमंत डालू डाडी गाय डाडी डालू बास नीमल कोट वाला जटारा सनोप मोटा बात कहता बार लागे हूँ करे बात प्यारी लागे शार बाबा शार फलमा नहीं लगार माता शो तेजी दुबड़ा शो तेलरो फड़ो घृतरी धार तो भी भीषाई बात नई विचार खट जगव खड़ खम्ब हल दरिया हम्बल्ला दंड भरता दरियाव थके नर गया अकेला खैरू फांडू गांजा प्रति तोलत पल माही साथ नहीं चली आथ रहेगी धरवाई दश शीश भीष भजा दड़े गयो पद गजिया शनुदास कहे सुनो समझतिया एक रहेगी माया रजिया इणी भौम उपरे राम रामण अड़िया इणी भौम उपरे छह चकवरण फड़िया इणी भोम उपरे खपे खोण अठारे रणी भौम उपरे गया बालावणी बारे दर जोजन राजा सिंगरे दिया ए तला रावा आगे हुआ उठा करा हमें कौन कहे भौम ने ले गया इणी भौम उपरे राम रामण अड़िया इणी भोम ऊपरे छह चक वरण फड़िया इणी भोम ऊपरे खपे खोण अठारे इणी भोम ऊपरे गया बाड़ा मणि बारे दर जोजन राजा सिंगरे दिया ए तला रावा आगे हुआ उठाकर आ तो हमें कौन कहे भोम ने ले गया वाह जुगा बाबा खट जगव खड़ खंब हले दरियाव हमला दंड भरता दरियाव तके नर गया अकेला कैरू पांडू कांज प्रति तोलत पल माही साथ नी चली आत रहेगी धरवाही दश शीश भीष भुजा दड़े गयो लंका पद गजिया शमुदास कहे सुनो समझतिया एक रहेगी माया रजिया जुगा बाबा सदा भवानी दायमा शनमक रहत गणेश के पांच देव रिच्छा करे बिरमा विष्णु महेश सदा भवानी दायमा शनमक रहत गणेश पांच देव रिच्छा करे बिरमा विष्णु महेश सुंडाला दुख भंजाना सदान वाली वेश सारा पहली शमरिय गवरी पत्र गणेश बचन करे बड़ा राज बचन कहे वाल खोवे बचन साज हर चंद नीच घर नीर संजोवे बचन कियो बेताल दान लखी कु आप्यो बचन कियो जगदेव शीश गंगाली को समपे बचन कर कुभजन करे जानी कर गाजी भन कटिए बेताल कहे सुन हो ब्रकम एक बोल बचन केम फलटी वाह जुगा बाबा बातारी बाता ताड़ियारा पटका लेती उधारा कीना गटका नेंदिना भागा नेंदिना पाछा भाग्या बवार खाक में पीजन झोंपड़ी जवार जुगा बाबा विन टेमरे माहले कानी गरीब बनवा जिना जिनदिन किशन जलमियो काट्यो पृथ्वी कलंक वंश पैंतीसा ऊपरे कुड़ जादमन कलंक जिना जिनदिन किशन जलमियो काट्यो पृथ्वी कलंक वंश पैंतीसा ऊपरे कुड़ जादमन कलंक जुगा बाबा अठी ने ऐशो गरीब बनवाजा करना भगवत महाराज का ज्योतिष रूपी दीन दयालु हुआ है और अठी ने कंसरी बहनी देवकी जी वसुदेव जी ने प्रणयोड़ा जुगाम बाबा और गोकड़ के माए बशीवान था तो गोकड़ कैसी के के क्यों बातें करो गरीब बनवाजा काशी मथरा प्रागवड़ कशनेरी भटनेर और दुमंग दुरावर गजनी नमो जे मेर काशी मथरा प्रागवड़ कशनेरी भटनेर दुमंग दुरावर गजनी नमो जे मेर wow. जुगा बाबा गोकड़गे माए वसुदेव जी विराजमान हुआ है और ने राजा कंसरी बहन वसुदेव जी रे घरे तो जिन दिन किशन जन्मो है जके ही दिन ऐसो शोभना थाल बाजा है और ये धरती के माथे जिन दिन किशन जलमियो भूमि उतारण भार और दुष्टन के मारण जके गरीबा कोई ले तार वास्ते आप जन्म धारणा की हुई है जन्म धारणा की हुई उन टेम रे माहले कानी करना भगवत गावया ज्योतिष रूपी महादेव रावया तो राजा कंस देख रहे बोलिया कि ओहो हो देव की तो आपने कंस ने यूँ मालूम पड़ी कि देव की रे पेट रे अम्मा है सुसान जलम ही वो मारो नाश्त कर दे ही हाँ, इनने वास्ते आप है जे कि देव की जी ने आप रे कने लिया तो देव की जी ने कने लिया और आप है जो रुखाड़ी पाड़ी राखे और ऐसी बात करे मत पूछो बात आ जैसी हाँ तो जुगा बाबा अठी ने तो कृष्ण को जन्म धारण हो है अठी ने है जो नंद जी रे एक आपरी दासी जेके रे कन्या जन्मी वह किन्या ने ले और अठी ने तो कृष्ण जी रो जन्म हो है और अठी ने दया जी की भेड़ी हुई है और भेड़ी हो बातचीत कर रही है बिन टेबरे माए बठी ने तो उन्नो जन्म हो है और अठी ने कृष्ण जी रो जन्म हो जुगा बाबा अठी ने कृष्ण जी महाराज जलमना पावना पी है और उठी ने तो आप रे वास्ते जके वास्ते कारण के के किशन जी ने ले जाए यशोदा जी पालन के वास्ते वह छोकरी ही लड़की जगह तो कंसरे उठे पुगा दी भी हाँ, और किशन ने है जके है जके गोकल पुगा दिया हाँ। जुगा बाबा भव बंधना भगवाना हो किशन सुधारणा काजा कराणाज षटंग कारणे मान भये महाराज भव भंजन भगवान हो कृष्ण सुधारण काज कराणाज षटंग कारणे मान भये महाराज तम ऋघुबंध को बंध मुगंध कट्यो दुख दंध झट्यो प्रगटा बन में घिन्न घोर गमंड संबंध बेचाले जन घोर घटा समंद्र बेचाल गजेंद्र टेर ठोणी जन में धर यू पर दंध निरंध धरो गजंड यो बार रयो चन में बाबा जुगा बाबा रघुनंद गोमा दयानंद घना किसनाचत धार रहो बन में किसनाचत धार रहो बन में तो भट घंच नार फोकार भी प्रभु भाव धरो धुर जो जन मैं तो के हे हरि हो हरि हाज हरि मम क्यों न मरी झरणी तन में मम क्यों न मरी झरणी तन में लल भेर लगे रम देर की भी हरि यम भर जीर झीर ओढ़ावन में रघुनंद गोमंद यानंद घना किसना चित धार रही हो बन में किसना चित धार रही हो बन में किसो नाचत धार रो बन में भय भीत यजीत यतीत भयंकर सीत हरि अजनी धन में ललकार होकार में मारन सासुर ललकार होकार में मारन सासुर प्राण लियो यपना पन में दस गंध के भात य नाथ की यो ससुर नाग थयो शशुनाग जयो गढ़ लंघन में रघुनंद गोमंद या नंद घना किशो नाचत धार रो कृष्णाचित धार रहो बन में कृष्णाचित धार रहो बन में तो जड़ापूर जरूर करूर तटे झटे राम भैराजत न्याभन में रघुराज का पाप धुआ दिया जुगा बाबा रघुराज का पाप धुआ यदि जा पुण्य घाट लियो दरियो धन में मोदी मंद सुरंद बेजंद भयो गयो गौतम रेहू बेचारन में जुगा बाबा जो गौतम ग्रहु न मैं मुनि नार लार भेगार बन्ना पति जन कार न मैं रघुनंद यनंद गोमंद घना रघुनंद यनंद गोमंद घना चित धार रहो बन्ना में चित धार रहो बन्ना मैं मोती मंद सुरंद बेजंद भयो गयो गौतम ग्रहु न मैं मुनि नार लार भेगार बन्ना बनी नार की बनिनारकीलार भिगार बनापति श्रापति योजन कारण में रघुनंद या नंद गोमंद घना किसना चित धार रहो बन में जुगा बाबा किसन अवतार लियो है अवराज की धारणा की हुई है बिन टेमरे माहले का नहीं और लड़को जन्म्यो है किसन ने तो जशोदा जी के ने पुगा दिया और वह लड़की ही जिके ने कंस ने पुगाया है ओ पुगाई तो राजा कंस के ही करे के जको देव कर जी रे ग्रवाश के माए जल में हाँ। पदम शिला पड़ी भी पदम शिला रे माथे ले जाए पड़ी और पछाड़ पड़ो और बच्चो हुए तो कहीं और बच्ची हुए तो कहीं मार उन्हें पछाड़ देवे और मार के इनने वास्ते गरीबन वाजा ऐसी वार्ता बनी है कहीं है के अनिति से जात है राज तेज ने वंश के तीन ताला जड़ गया भाई कैरू रावण कंस अनिति से जात है राज तेज ने वंश के तीन ताड़ा जड़ गया भाई कैरू रावण कंस वाह वाह અઠીને એને પદ્મશિલા માથે પછાડીએ બેન ટેમરે માં લેકાની આ હોય પરી બીજળી આ તો આકાશ રે માં ચડગી ગરીબ નવાજા કડ કડ પડ પડ બૂંદ પેલંગ પર કડ કડ બીજ કરંત કે આજ પીએ બિન એકલી હું હિબડો ફૂટ મરંત કડ કડ બી પડ પડ બૂંદ પેલંગ પર કડ કડ બીજ કરંત આજ પીએ બિન એકલી હું હિબડો ફૂટ મરંત વાહ. બીજ બળા બળ જળ પ્રગળ મોરા કડ હડ મિંત્ર ઓ લે બાજા બર્યો શાળા તું આવે રાજા बिंदु बीजो भड़ा बड़ो जड़ो प्रगड़ो मोरा कड़ हड़ो मंत्र ले बाजा बरो शाड़ा रा तू आवे राजा इंद आवन शावन ओ छबो रंग आभे बीज सोरंग क्या खड़ काबड़ भरिया रे है तो ही कामण रूप नरंद यामन सावन ओ छबो रंग आभे बीज सोरंग ओ खड़ काबड़ भरिया रे है तो ही कामण रूप नरंद जुगा बाबा मन की बोहोरी तना सोई गुन गहरी अंशगत और लहरी अना संसारा में बहरी शमो न मिंत मन की बोहोरी तना सोई गुन गहरी अंशगत के लहरी अना संसारा में बहरी शमो न मिंत जुगा बाबा आप पालन पोषण करने डूब गया हाँ सर आर लड़े जुगा वो कड़ कड़ कड़ कड़ बिजली कियो है और आप डरे भी आका ही बात हुई हिंदा ही और बिजली आसमान में चढ़ गई आ कहीं बात रहे कौद होगी कमर थाक लड़का आज उसका पता पड़ा को या? नहीं जुगाम बाबा गरीब राजा तो राजा कंस तो आप बात पूछने लाग गया और भाई है पुत्र हो पुत्री हाँ और अठी ने हूँ वसुदेव जी रे गरे जशोदा जी नंद जी रे गरे और देवकी जी हाँ वसुदेव जी रे गरे हाँ दूध पालन पोषण करने डूब गया तो वो तो राजा किशन हो और हाँ। किशन को कोई इस धरती के माथे अवतार हो कोई और महात बलाकारी आ जलाकारी आ अठीने तो किशन जी की मालम पड़ी हाँ। और अठीने शंकर महादेव जानियो के भी जाओ किशन अवतार लियो है तो जाहिर उनका दर्शन करा तो दर्शन किया खूबी है महा अवतार है और किशन का जाहिर दर्शन करा અમે મારા શંકર મહારાજ बुआ હે આ ડમરુ આપરો હાથ મેં લિયો હે मुकुट गगन खल हले चंद लाल झलक के दोम चकर दड़ हड़े मृग सिंह के फूंकारे सिंह बहल दो सात सिंह सानियों न मारे उड़ियाणी कम्बर कसी आरंभ देख ईशर तनोग देवी हगनलाद हड़ हड़ हसी हाँ। मुकुट गगन खल हले चंद लाल झलक के दोम चकर दड़ हरे मृग सिंह के फूंकारे सिंह बहल दो सात सिंह सानियों न मारे ಒಡಿಯಾಣಿ ಕಂಬರಕಸಿ ಆರಂಭದೇಕೆ ಈಶ್ವರ ತಣೋಕ ದೇವಿ ಹೆಂಗಳಾದ ಹಾಡಾಡ ಹಸಿ ಜುಗಾ ಬಾಬಾ ಶಂಕರ್ महादेव बुआ आवे पार्वती जी ने शेरी सवारी की ओड़ी है और शंकर महादेव के नादियरी सवारी की ओड़ी है अरे आप मार रहा मार्ग बुआ आए रे आया गरीब बनवा जा और देख रहे यार वाह वाह आयब्रा और नंदी के गिरे निमणकार कियो है निमो निमो गुरुदेव निमो किरदा अविनाशी निमो आनंद क्रोड निमो हर भगत दशनाम सन्यासी निमो जैन जोगेश निमो जगम शुक्राशी चांद सूरज धरण गिगन पवन पाणी पीर फकीर लख चौरासी जिया जून तो जिण रे आगे सब कोई निमो वाह निमनकार कियो है इन पे हाथ रे जशोदा जी माता आवता देखिया शंकर ने अब दूध बनोड़ा और हाँ। मुकुट के माए तो गंगा खड़ूक रही है मुकुट गंगा खल हले चंदन लाल झलक के दोम चिकर दड़ हड़े मृग सिंह के भूंकारे सिंह बहल दो सात सिंह साणी उन मारे उड़ियाणी कंबर कसी आरंभ दे के सर ईशर के दिवी हिंगड़ाद हड़ हड़ हसी मुकुट गंगा खल हले चंदन लाल झलक के दोम चिकर दड़ हरे मृग सिंह के भूंकारे सिंह बहल दो सात सिंह साणी उन मारे उड़ियाणी कंबर कसी ಆರಂಭ ದೇಕ ಈಶ್ವರ ತಣೋ ಗದಿ ವಿಹಂಗಳಾದ हर हर हसी वाह जुगा बाबा आप कवर दे ले हर कृष्ण भगवान ने ले जा छिपा लिया है हाँ सर ओढ़े आंत्र छिपाए पड़ा और आप बारे आन बैठ गया है बारे आन बैठा और महाराज बोलिया ए माता तेरा भवन नहीं छिपने वाला ते क्यों ते भवन छिपायो वाह तेरो कमर है वो तो कोई छिपाना है ही नहीं नहीं है अरे जाहिर छिपायो की कानों में तो हूँ तो शंकर महादेव हूँ हाँ। और आपका दर्शन करने के लिए आई हूँ और तुमने वहाँ ला जाके और लको के बैठा दिया हाँ तो हूँ तो आप शंकर के आज किशन का दर्शन करने आयो हूँ तो आप व्याकरण कहो के और शंकर महादेव को हाँ। बहुत ही पुराणो बहुत अच्छो क्यों बात करो जैसा तो बबू जी जो अंगे माए रंगायोड़ी है बसवी चढ़ावत शंकर के ओही लोचन बीच पड़ी धर पे विषु की फुंगार शशि के लगी जब अमृत बूंद पड़ी झर पे विषु की फुंगार शशि के लगी जब अमृत बूंद पड़ी झर रे घुसण राय रे हो गणन आय रे हो गणन आय रे हो मज मंदिर पे सूर्य गोशत देखत भाखत गवर हंसी मुख यूं करके जुगा बाबा बसमी चढ़ावत शंकर के ओ लोचन बीच पड़ी धर पे विषु की फुंगार सुशी के लगी जब अमृत बूंद पड़ी झर पे सुर राय रे हो गणन आय रे हो गणन आय रे हो मज मंदिर पे सूर्य गोषत देखत भाखत गवर हंसी मुख यूं करके वाह जुगा बाबा अरे उन तो बहुत प्रसन्न हुए अरे देखने ने आयो तो आप रे गणित तो साप गाचोड़ा गड़े रे माँ घना गोईरा बीछू बहुत ही घना कोई पार ही नहीं बस गणपत गण गाबू शीश नवामू शंकर धाऊ निज नामी हूँ शंकर धाऊ निज नामी शामी नामी अंदर जामी अंदर जामी अविनाशी हो अंदर जामी अविनाशी ओडन मृगशाला गले फुल माला चंदल लाला उजियाला शामी नामी अंदर जामी अंदर जामी अविनाशी हो अंदर जामी अविनाशी अंदर जामी अविनाशी सापू की माला नितर विशाला मुकुट जड़ाला मुतियाला शामी निजनामी शामी नामी अंदर जामी अंदर जामी अविनाशी हो अंदर जामी अविनाशी काकण कर धारी अर्ज हमारी फल में तारी अवतारी शामी निज नामी अंतर जामी अंतर जामी अविनाशी हो अंतर जामी अविनाशी जुगा बाबा हरि अंतर जामी अविनाशी डालू गुण गायो शंकर धायो अंध उपायो अविनाशी शामी निज नामी अंतर जामी अंतर जामी अविनाशी हो अंतर जामी अविनाशी जुगा बाबा अरे जशोदा जी माता बोले है क्या हो हे शंकर महादेव आप तो बहुत ही बड़ाई कर आया अच्छो काम कियो पर आपसे मिनख डरे हैं और दुनिया डरे है कैसे हूँ डरे क्यों डरे है हाँ। के अशतूतीय भूतीय अंग भूतीय जानक शूतीय षट जपे महादेव योगतीय बायक है महादेव योगतीय बायक सतीय जानक जतीय जुग धावे जुग धावे हाथ पसारे ही बाबो ही तारे ही पल्लम है तेजपुरी यूं तारे ही पल्ल में तेजपुरी गुण ज्ञान समाप बैठान गजा पर भूख दारा द्रिय भज गई भज गई है भूख मिल्या मन जैतल जैतल बिजल संगर रमे पर भाता ही पोर जपू पर खंडा पर भाता ही पोर जपू पर खंडा ही त्रोटो ही भांगण काव्य तणो जल बम कमल पमन परमेश्वर जहां जा जा नम नंद जोड़े नव नंद आनंद गोमंद के शंकर शंकर मोही शाय करे जुगा बाबा ई वास्ते कवर ने भवन में छिपायो है और आप शंकर महादेव पधार्या हो तो धन्यवाद है दिन घड़ी धन भाग अच्छो काम है आप विराजो महाराज और वो लड़के ने कमर ने ले और आपने शरणावतन दिला हाँ, जुगा बाबा गिरी बनवाजा तो वो तो भगवान हो अरबी को कोई हो नहीं किशन अवतार हो बिन्ने माहले कानी करना भगवत आया ज्योतिष रूपी महादेव आया है और उन टेमरे माहले कानी दशरथ कुल दिन गिर नगर गिर गिर चल तम नील गिर जब दिन कर दोई तब कत नील गिर सब सुख दिन गिर जा मध्य जिन गिर या दिन कर दोई न जमन तिन गिर न मन मन कर ब्रभन ब्रभन कर पद पूज जय राम अनु जग दान तनु जग तपल तनु जिगे तपल तनु जिगे दरन जिगे तपल तनु जग दर धूज वाह वाह तपलकानोजग धरदूजग जे मित सुजानग श्री भगवान ग दंड ग रानग लियदानग लियपे दमानग जतोदि दानग जति सतिपति थानक फल फल खानक निज आनंग मैं सुमत में जानंग बे उन्मानक प्रबन प्रभानंग पद पूजंग जय राम अनु जग दहन धनु जग तपल तनु जग धर जग हो तपल तनु जग धर जग बाबा जुगा बाबा तपल तनु जग धर जग धारण कर धीरे अनक अजीरे ठाडे ठीरे गंभीरे मन हर्ष में हीरे वह सोई वीरे थावत में धीरे कहो हमीरे मन मूजंग जय राम अनु जग दहन धनु जग तपल तनु जग धर जग हो तपल तनु जग धर जग वाह कपल कनू जंग दर्द हो जंग जे मिता सुदान गे सिज भगवान गे दंड के रान गे लिए दान गे लिए बे मान गे ते पति दान गे फल फल कान गे जिंदगी आन गे फल फल खान गे निजी आन गे मैं सुमत में ध्यान गे बे उन्मान गे प्रबल प्रभान गे पद पूज गे जय राम अनु जंग दान तनु जंग तपल तनु जंग दर्द हो जंग हो तपल तनु जंग दर्द हो जंग वाह जुगा बाबा तबल तनु जग धर धू जग धर्म के ही हड़ बु धड़हड़ पड़ हड़ अंबर चढ़ हड़ चढ़ हड़ हड़ ही चढ़ साब तमहि चढ़हड़ कूड़म कढ़हड़ भड़ तुअर गबड़ मर्द मरण कर बस कर लो धर इंद्र जीत ले धर कर लो जय राम अनु जग दान तनु जग तबल तनु जग धर धू जग जी तबल तनु जग धर धू जग बाबा तबल गनु जग धर धु जग तो दंड तम तक तो मर तक तक शम डक शक शक डब जग गन नाग तम तक बल मत पक बक पा त पक बक आदि आदि रूप तक तक धन ही तक तक ए पदान तक बट भु जग जय रामानु जग दान धनु जग तबल धनु जग धर धु जग हो तबल तनु जग धर धु जग वाह जुगा बाबा तो किशन भगवान हा और मुरली वाला हा बहु कोई बड़ो मिनक नहीं था हां सर लाए प्रवेशोक आर सोनेरा रेशमरा पोतड़ा आ सोनेरा पिंगा उनने माए पोडायोड़ा है अंगूठो आपरो चूस रहा है आर महाकप सूरत कैसो तेज बम्बी यारा रे भपंजी यारा भवा शंकरा कुल भाणा अम्माला भेड़ा अपने धन रंग हो सूरज राणा तेज बम्बी यारा रे वो पंजी यारा भव शंकर कुल भाणा अम्माला भेड़ा अपने धन रंग हो सूरज राणा वाह महा कंठ पूतली है जैसा महासबूतर आर किशन अवतार गिरी बन आज जट शंकर के देखे निजरण कियो है कृष्ण भगवान ने बीके शंकर महादेव उबा हो पर और आरती उतार रहा है पहली आरती प्रेम भरगाशा काल क्रोध को कीजिए नाशा दूजी आरती दिल भर देवा तो भाव भक्त की कीजिए सेवा तीजी आरती तरबीना छूजे गुरा जीरा वचन आगोचर लीजिए चौथी आरती चौथे पद सुहाई तो गुरा जीरा बचन पदम सुख पाई पांचवी आरती पदम रवणा तो कहत कबीर सतलोक समाना जुगा बाबा आरती उतार पर आशिवपुरी बनवाजा और भगवान महाराज शंकर महादेव आपरा कृष्ण का दर्शन कर रहा है और चरण खोल परा और शरणावत ले रही है गिरी बनवाजा और शरणावत ले परी ओहो हो हो धन्यवाद है वाह किशन वाह वाह किशन वाह आ अमर चीलो है और अमर बात है इंडे माए आप तो अमर ही हो हाँ, जुगा बाबा गिरी बनवाजा शंकर महादेव तो मिलाप कर परा ले चरणावत और पछा रवाना हो जा गया बीजो बदे तिल तो आप बदे जब बीजो बदे तिल तो आप बदे जब गरीब नवाजा यूं करते करते करते करते पांच हाथ वर्ष की उम्र में होया पांच हाथ की उम्र में होया और आप दड़ी खेले और दोपो खेले दड़िया रमन ने जावे हीरा पनारे जड़ावरी दड़ी और किशन भगवान रे कोई बात रो घाटो नहीं हाँ सर जुगा बाबा बनी है बिन બિન કેમરે માલે કાની आप दड़ी रमते रमते रमते रमते रमते रमते गरीब बनवाजन हार और दड़ी के दो लगायो है दो टो लगायो बुन टेमरे माने कनी दड़ी जाए जमुना रे माए पड़ गई हाँ जुगा बाबा जमुना रे माए गई है और आप लारे जावनो तेवड़ियो के ओ हो हो अब हमें जमुना जाती रही और हाँ, एक दो टो अठे लगायो और जमुना जी पाछा कद आवा कद जावा आप लार रवाने होया बीटे देवकी जी माता और जसोजा जी माता हाँ। बोले है ए किशन ठेठ जमुना जाती रही आपने बड़ी बीजी कराई लिया और हाँ। जमुना में पड़ गई वो तिरन के टकटी जाई अरे बात मत करो ना आप मत बता जमुना जी मत जाओ ना जमुना जी मत जाओ ना अरे आप मारो कहनो मानो और मेहरबानी करो आपने दड़ी बीजी करा दी ठीक है नहीं नहीं नहीं माता साहब ए माता जी आप मेरे माता हो जशोदा जी माता हो और आपका मैं दूध पिया है तो मैंने ऐसी एक बात करूंगा जाके जमुना को देखूंगा और कैसी जमुना चलती है और कैसी बहती है जुगा बाबा ओ है जुगे दड़ीरे लारे रवाने होया है और रम छम रम छम रम छम रम छम रम छम रम छम रम छम रम छम और रमता रमता बुआ जावे बन टेम रे माजे का नहीं जाए जमुना रे माजे खड़ा रहे ओहो उमायो भवहार क्रोर गुनायोपगार कर तू माता मोने तार तो भेटा भागीरथी हूँ आयो भवहार क्रोर गुनायोपगार कर तू माता मोने तार तो भेटा भागीरथी काया लगी ओ काट शकली गिर सुधर नहीं तू बड़ा भई निराठ तो भेटा भागीरथी काया लगी ओ काट शकली गिर सुधर नहीं धुंदर बळ भई निराठ तो भेट्या भागीरथी जुगा बाबा गरीब बनवाजा क्रम संजोग सुपात्र मेले को पात्र का दान दिया न दिया है गंग का नीर प्रभाव चले तो कुंभ का नीर पिया न पिया है तेरे हृदय भगवान बसे कुछ और का नाम लिया न लिया है कभी गंग कहे सुन साया कबर मुड से नेह किया न किया है वाह जुगा बाबा बाल से आल बड़े से विरोध को लक्षण नार से ना हसीये ओछे की प्रीति गुलाम की संगत ओ घट घाट में ना धसीए कवि गंग के है सुन साया अकबर कूर से दूर सदा बसी वाह वाह जुगा बाबा चुगे बेर पर मोर चुगे हंसागर सरवर केहरी बनखन चुगे चुगे पत्ताल भमंगन पत्थर में कीड़ा चुगे होन कुछ करते है चिंता न करो न सीत हो तो प्रभु दयन हार समरत है चुगे मेर पर मोर चुगे हंसागर सरवर केहरी बनखन चुगे चुगे पत्ताल भमंगन पत्थर में कीड़ा चुगे होन कुछ करते है चिंता न करो न सीत हो तो प्रभु दयन हार समरत है जुगा बाबा गरीब नवाजा अड़ी वार्ता बनी है नट नाग न संग किलो लकरे तदी प्रांत भैया ओट मंजन साई और लीले तो चीर में देह दिपे जिमना तो के बीच में चंद की जाई लेड बुकी उबुकी जिल से इल की छुट्टियां मुख ऊपर आई धोकर जोड़ संवार लिए नखसा रवि फोड़ पहाड़ा के माई जुगा बाबा नट नागन संग किलोल कर तदि प्रांत भय अयोट मंजन साई लीले तो चीर में देह दिपे झमन हाथों तो के बीच में चंद की झाई ले डुबकी उबकी जल से इल की छुट्टियां मुख ऊपर आई दोकर जोड़ संवार लिए नखशा रवि फोड़ पहाड़ अंके भाई वाह जुगा बाबा आप तो ले भगवान रो नाम और जिमनाथ जी में सारा छोरा पानी में बैठ गया पानी तो मैं जल फिर तो जा रहे हो है जब तो जाच रहे हो है कि बनवाजा जावते जावते जावते जावते दरियावरे किनारे गया है और दरियावरे माँ शशु नागरे वे गरीब हाँ। शशु नागरे कन्या नागपुत्री हाँ। और नागपुत्री है और आप दरियावरे किनारे जाए खड़ा रहा है कृष्ण भगवान हाँ। और ईश्वर को परमात्मा को भजन कर रहा है ओ बहुत यश आय थर रर दम्ब पट धर धर हर भर हर कोट भर हर हर विघल डर वक कर वयं कर दीघ हर हर प्राण सुम देत हणे भट दर असुरान ब्रिगट घट भंजन ब्रिगट रूप नर सिंह बने वाह ब्रिगट रूप नर सिंह बने थर रर थम्ब फटत धर धर हर फर हर कोट भर हर हर बिलिंग डरव कव कर भयंकर देखत हर हर प्राण सुम देत हणे भट भटत असुरान ब्रिगट घट भंजन ब्रिगट रूप नर सिंह बने वाह जुगा बाबा और किनारे जाए उबा रहा है खड़ा रहा और आप जो ध्यान लगायो धीरे परो अच्छा अठे आ गयो दरिया वो किनारो है और दरिया वो किनारो है और गोकर जी लारे रह गया पिताजी लारे रह गया हाँ। और जशोदा माता देवकी जी माता नंदलाल जी गोकर से उठे रही है पर ठीक है भला भगवान अवतारा ने कोई केंद्र होया कोई नहीं दर रे दर तू ध्यान हृदय में रखो न कोज उपाय मती कर रे शंख मती वार न सैन न भारत बीच फेरा कर रे ऋषि के ऋषि पाल गोपाल धनी तहा कुंबल भद्र कहा डर रे दर रे दर तू ध्यान हृदय में कोज न कोज उपाय मती कर रे शंख मती वार न सैन न भारत बीच फेरा कर रे ऋषि के ऋषि पाल गोपाल धनी तहा कुंबल भद्र कहा डर रे जुगा बाबा उडियान के वान शिजान ग्रह जब खांच कबान धरियो सर रे काल को काल बमंगट चोट बाज क जाय लगो सर रे जिसी के ऋषि पाल गोपाल धनी तो के मारण हार तको थको कुणरी जुगा बाबा तो डाक न भूत मोसान न मैन न कुंड न मैं पग धर रे शंख मतीत रवार न सैन न भारत बीच फिरया कर रे जिसी के ऋषि पाल गोपाल धनी तो के मारण हार तको थको कुणरी जुगा बाबा आप किनारे खड़ा रहे आए और खड़ा रहे पड़ा और दृष्टि जमाई है और आपको रूप प्रगट देख कर और देखा भी दिखानी टेम रे मायने कानी नागपुत्री दरिया रे बारे किनारे आया है किनारे आया आपने नजर पड़ी ओहो फील मुख गज हट्यो फटा छूट दे पाव के अंध कुंद चाला अटारी आ हाँ जाने इंद्र घटा सजयाव फील मुख गज हट्यो फटा छूट दे पाव अंध कुंद चाला अटारी आ हाँ जाने इंद्र घटा सजयाव वाह जुगा बाबा मिले नीर ददारा हेम चंदना बमंगा खुद्यारा सहन मिले नाद जिम मिले कोरंगा महली सज्जन मिले सफले के रहन सवाई अंशा तो सौंदर मिले चाहे कर चूण चुगाई मालची देख मधवर खुशी कीर कोरंग कपोत सा दीदार देख सुको उपन्योग प्रभु हर मिल्या मिलास मंद सा मिले नीर ददारा हेम चंदना बमंगा खुद्यारा सन मिले नाद जिम मिले कोरंगा महली सज्जन मिले सफले के रहन सवाई अंशा तो जो समंदर मिले चाहे कर चून चुगाई मालची देख मदवर खुशी कीर को रंग कपोत सा दीदार देख सुख सुगोपन्यों का प्रभु हर गो मंद सा वाह जुगा बाबा किनारे खड़ा रहे आए और आपने नजर नजर भेड़ी हुई है हाँ, और किशन महाराज जाने ओ ऐसी स्त्री और कटेरी है कौन है और कौन नहीं है पूछो तो अन्य पूछो जावे आप है जो खड़ा हुए पूछा भला कौन हो आप हाँ, ये अंदाता जी साहब मैं तो पुत्री हूँ ओहो कहिड़ो नाग है क्या कहिड़ो के अड़ियल कमर या चपाड़ो छड़ियल कमर सधीर पलक पलक पर दिए तुम भाषंगर बना वीर जड़ियड़ कमर चपड़ो सड़ियड़ कमर धीर पलक पलक पर दिए तुम भाषंगर बना वीर तो बड़ा खम्बाड़ो सदा भी बेग पातरी पीड़ ने पहलो रेलो दुख रहना वा पहना वा बिछू पाल या परा अनेक रूप देख जे अनेक काला आपरा अनेक रूप देख जे अनेक काला शंभरी नरेश शेष धम्म दुख झाल निमो निमो टाले बाबा द्रुपद सदा नरेश वाह निमो निमो टाले बाबा नृपता नरेश कपडाली काबरी कन्ना आली टाले बाबो भराली कराली जाने भैंभोड़ी बलाय खेड़ू जू घड़ंदी धरा जिमी में जबू न चाले ईचड़ी चीचड़ी लुंडी परेरी पलाय बांडी बोगी डब्बा वाली डंकणी फूकणी बिष फाड़ पी मंदी रती घोड़ा खाती चले गेरी टाल जो जहारा पीर राकवा छू टाल टाल निमो निमो कह नाग रहण वारी रिचा राखो ओ पखेरो हो पात्रगा शिवगा करे शाय प्रथमी પચાસે કરોડે દ્રમોડી બડોડી ધામ માનો જમેર वाला બાળા ગમાડો सता भी बेग पातरी पीड़ ने पहलो इन बावरो सर पे और देख रहे बजे ओहो हो आप है जगह आप लड़की जगह रवाना हुई है अरे लाल लाल किशन रवाना हो गया दे तेरे में पियाल तो तेरे में पियाल है जगह गरीब नवाजा जायपरा खड़ा रहा है और कह रहे ओ अरे भाई आ कहीं बात हुई अरे एडो मानवी તા मत लोग रो मान को पता लोग में आ गयो पता कटे है गरीब वाजा हाँ के जला बमल पर कमल कमल ऊपर कचियर कचियर ऊपर मच्छ मच्छ ऊपर फुनिहर फुनिहर ऊपर धवल धवल ऊपर धरती धरती ऊपर तार तार ऊपर धूमंडल धूमंड खंड चब दे चबक तो श्री रामचंद्र गिर गिर हरे जला बमल पर कमल कमल ऊपर कछियर कछियर ऊपर मच्छ मच्छ ऊपर फुनियर फुनियर ऊपर धवल धवल ऊपर धरती धरती ऊपर तार तार ऊपर धूमंडल धूमंड खंड चब दे चबक तो श्री रामचंद्र गिर गिर हरे जुगाम बाबा गरीब नवाजा अड़ी वार्ता बनी है आद ब्रह्म आदेश ध्यान सुर सत को धामू गणपत गाऊं ज्ञान मा कर महेश मनाऊं विष्णु हो रुकोवाल शंकर ने शीश निभाऊं माया दे महादेव लिच मेरी सेवा पाऊं कर जोर अर्ज डालू कहूँ तो पास देव हरी गुण गाऊं जुगा बाबा कुमत को तो मधुर हटावत सुमत को घटमाज सम्माता शंकर को धन धिन्न ही धावत पिंगल के घेर नूर दिखादा सूर्यत को तुम खेल खेलावत वाह सूरत गौतम खेल खेलावत काल के रोध को दूर भजाता कवि कहत डाला मजाला मजन्नाता वो ज्ञान गहरात गणपत कहलाता जुगा बाबा गणपति जी महाराज की खरी धीज रख खास के साचे हृदय धायर है तो धनी तुम्हारे पास गणपत गण वाला मत वाला की दी महर मारे खोलिया हिरे देरा ताड़ा कवि अण पर कृपा की भी डालू शिव ने मांगा रे तू धनी शंकर ने धार देने वालो बो धनी तू धारण मना में धार डालू शिव ने मांगा रे तू धनी शंकर ने धार देने वालो बो धनी तू धारण मना में धार बिगना हरण मंगल करण हो तो बुद्धि प्रकाश गजानंद कौशवरिया हुए दुष्ट को नाश विघन हरण मंगल करण हो तो बुद्धि प्रकाश गजानंद कौशवरिया हुए दुष्ट को ही नाश जुगा बाबा और कवरी पत ब्याह है जाहिर आपकी माता जी ने और पिताजी ने बोले है ये अंदाता जी साहब एक मान को मर्त लोग लो यहाँ आकर खड़ा रहा है हाँ सर अरे ने कैडी रीसाई सर्प ने नागराजा ने कड़ी की निंद्रा आयो निंद्रा में सूतो पड़ियो और जार शूकलो दिनो और फण आना आना आना आना कर फूभाट और शेष धारी फण धार परो और मारे नरवाली निकली सा जुगा बाबा मारे निकलियो उन टेमरे माले का कानी करना भगवत का आपरे माथे नजर पड़ी किन्नी नागरी और आप है देखो फूंक लगाई क्या ना शेष नाग फण राजा और फूंक लगाई बिन टेमरे माए शरीर है देखो आप रो कादो काड़ो और आधो દોડો ઘણો શરીર પડગ્યો હોય અરે સર્પને પગડ પરો કેને રાજા કિશન અરે નેત્રો બનાવી પરો મતે સંબંધ ફેર નાગ ઝેર નેત હરું ઝપેશ રામ યાઠ જામ રામ નામ રામ હે દે રામ નામ રામ હે મતે સંબંધ ફેર નાગ ઝેર નાગ ઝેર નેત હરું ઝપેશ રામ યાઠ જામ રામ નામ રામ હે દે રામ નામ રામ હે પકડ પરો સર્પને ને गरीब नवाजा और कर परो नेत्रो और मथुन कर परो गरीब नवाजा और झुरड़ो हरणो कर देगा यो अरे ना क्यों अरे अरे अरे, अरे बेटी रा बाप एड़ी बात रो मने ठाई कोनी जीव तो ही मने जीव तो छोड़ और आ बेला है हमारे नाम जियाड़ की बढ़ाइए जड़ा काठ को ले तेरे हो कहाँ की प्रीत अपना सिंचा जाना के है बडू जी रीत जड़ा काठ को ले तेरे हो कहाँ की प्रीत अपना सिंचा जाना के है बडू जी रीत सोना देवी ओ के है है बडू जी रीत ये करोड़ा गोना छोरू करे तो ही मेट करे मावीत सोना देवी ओ के है बडू जी रीत ક્રોડ ગુના છોરું કરે તોય મીટ કરે મવિત खंग्या कदे न ऊपर झंग्या कदे न धारा गड्ढा वाड़ा दौड़ी घिणा माँ बीशा हतीरी बाड़ा शिवगा ताराणा शंकरी मो ताराणा मम्माय अबाखी भंजाणा ईशरी माँ सदा कर करजेशाय शेष नहा गा फोना छड्डे हुए गेरी मेरा गरक जो आवी ऊपर नी करे तो उगे नहा नहारक